मन को श्वास पर केंद्रित करके अंतर्मुखी स्थिति में ओम का उच्चारण श्वास भरिए ओ अंतर यात्रा में हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं मन की यात्रा करते हैं जैसे बाहर की यात्रा में भिन्न भिन्न वस्तुओं व्यक्तियों को देखते हैं इसी प्रकार अंदर की यात्रा में हम अपनी मानसिक स्थिति को देखते हैं सामान्य रूप से हम अपने मन को अपने विचारों को देखते रहते हैं सभी देखते हैं ऐसे जैसे ही हम सामान्य रूप से बाहर यात्रा कर रहे हों लेकिन यदि कोई स्थान पर्यटन का स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो तो हम उसको अलग तरीके से देखते हैं सूक्ष्मता से देखते हैं ध्यान से देखते हैं एकाग्र होकर देखते हैं और उसके लिए समय भी बहुत लगाते हैं जिस व्यक्ति से हमारा आगे संबंध होने वाला हो व्यापार का या पारिवारिक संबंध किसी भी तरह का किसी स्थान से हमारा संबंध होने वाला हो उनको हम बहुत ध्यान से देखते हैं वो आवश्यक होता है इसी तरह से मन को ध्यान से पढ़ना विचारों को ध्यान से देखना उनका विश्लेषण करना और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेना क्योंकि ये मन मन के विचार हमारे सुख और दुख दोनों के मूल कारण हैं बाह्य वस्तुएं कुछ निमित्त उपस्थित करती हैं साधन बनती हैं लेकिन वास्तव में हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का मुख्य कारण क्योंकि बाहर की स्थितियों के विपरीत भी देखा जाता है बाह्य सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है इच्छानुरूप है तो भी हम दुखी रह सकते हैं हो जाते और बाहर के साधन बहुत कम हैं विपरीत हैं तो भी हम सुखी रह सकते हैं लेकिन मन यदि विपरीत है तो दुखी ही रहेंगे और मन में यदि अनुकूल विचार है तो सुखी ही रहेंगे वहां कोई अपवाद नहीं कोटलेस माइक की व्यवस्था कर दी मन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें समय निकालना होगा आयुर्वेद में भी मनुस्मृति में भी सुबह सुबह उठ करके अपने बारे में चिंतन की बात कही गई है सुबह सुबह इसलिए कि उस समय एकांत होता है अन्यों से हमारे व्यवहार नहीं होते बाहर की परिस्थितियां अंतर्मुखी बनने के लिए अनुकूल होती हैं लेकिन वैसे ये कार्य हम दिन में रात में कभी भी कर सकते हैं हमारी अशांति का कारण क्या है अशांति होती कहां पर है अशांति मन में ही होती है और उसका कारण देखने समझने और उसके निवारण की प्रक्रिया उसको हम यहां पर अंतर यात्रा के अंतर्गत कर रहे हैं हमारे जीवन में परेशानी है ये आपको पहले भी पता था कुछ घटनाओं पर अपने ध्यान केंद्रित किया कुछ विचार किया पहले भी कुछ जानते होंगे आपने आत्मस्वरूप में रहते हुए उन्हीं स्थितियों को आपने देखने का प्रयास किया कि जब शरीर के साथ आत्मा को भी ध्यान में रखते हुए उसी स्थिति परिस्थिति में मैं अपने को रखता हूं तो मुझे उतनी ही अशांति होती है या नहीं होती है अशांति होती है तो कुछ ना कुछ हानि कुछ न कुछ दुख कुछ न कुछ प्रतिकूलता हमें अवश्य लग रही है क्या कोई ऐसी स्थिति पकड़ में आ सकती है या किसी के आई कि हमें कोई हानि नहीं दिख रही कोई दुख नहीं हो रहा ऐसा नहीं मिल पाएगा यदि ऐसा किसी घटना में लग रहा है तो उस घटना को विचार करके पता लग सकता है विश्लेषण से कि हाँ ये चीज थी प्रतिकूल इसलिए हमें अशांति लगी क्योंकि बहुत सी स्थितियों में हमें सीधे सीधे कुछ भी प्रतिकूलता नहीं लग रही हमारे शरीर को कोई बाधा नहीं हो रही हमारी धन संपत्ति छिन्न हमारा मान अपमान भी नहीं हो रहा अपमान नहीं हो रहा किसी भय की स्थिति में हम नहीं हैं कोई आशंका नहीं है बाह्य रूप से शरीर धन संपत्ति की ना होते हुए भी कुछ न कुछ विपरीत बात हमें अवश्य लग रही होती है इसलिए हम अशांत होते हैं वो भी आप लोगों ने कुछ देखा अशांति का कारण नहीं है तो भी हम अशांत हैं हो गए थे ऐसा कुछ को पकड़ में आया होगा और अशांति का कारण हमें दिखाई दे रहा है व्यक्ति और उस घटना से जो कुछ हुआ वो कारण और उससे हम अशांत हुए वो दिख भी रहा होगा तो एक तो तरीका ये है कि मैं संभावना के रूप में जैसा जैसा होता है आपके सामने बात को रख दू और आप उन्हें अपने अपने पर घटा के देख लें जहां जो बात जिसके साथ संगत होती हो उसके साथ लग जाएगी उसका समाधान वहां पर सोचा जा सकता है और दूसरा तरीका यह है कि आप में से कोई कोई व्यक्ति कोई एक व्यक्ति जिसको चुना जाए स्वेच्छा से अपनी परेशानी के कारण को अपनी अशांति के कारण को घटना को व्यक्ति संकेत के रूप में रखें और फिर उसमें हम देखें कि यहां अशांति का कारण वास्तव में है या नहीं है और अशांति का कारण जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तविक कारण है या नहीं है उसमें कुछ हमारी हानि हुई या नहीं हुई ये विषय व्यक्तिगत है हर व्यक्ति अपनी घटना को परेशानी को बताना नहीं चाहता आवश्यक भी नहीं है बताना संकोच रहता है संबंधित व्यक्ति यहां बैठे हों पति या पत्नी बच्चे गांव के हों मित्र के हों मित्र हों और अकेले भी हों तो भी संकोच रह सकता है लेकिन आप में से जो इस विषय में कुछ संकोच नहीं रखते हो उनको कोई बाधा नहीं हो और अगर वो बताना चाहें तो एक जीवंत तो उदाहरण के रूप में हम उन पर चर्चा कर सकते हैं आप में से कोई बताए उस घटना को किसी एक घटना को उस पर मैं कुछ प्रश्न भी कर सकता हूं अभी हाथ नीचे कर लीजिए और कई बार चर्चा में बात अधिक खुल भी जाती है अब खोलनी भी पड़ती है उसको स्पष्ट करने के लिए वो भी एक आशंका रह सकती है और आप में से कईयों ने हाथ खड़े किए हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे अच्छा है और जहां उनको लगे कि अब थोड़ा ज्यादा अंदर की बात आ गई है और वो नहीं चाहते कि इस चर्चा को और चलाएं तो मना कर सकते हैं हम उसको वहीं रोक देंगे आप जो घटना रखेंगे उससे आपको कोई बाधा हो लज्जा की स्थिति हो सबके सामने ये प्रयोजन नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है लेकिन हम सब आत्माएं हैं अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ बातें हम स्पष्टता से बिना किसी संकोच के कर सके और उससे औरों को भी लाभ हो सके ऐसी घटनाओं को देख सकते मूल बिंदु क्या है कि उस घटना के कारण से ऐसा क्या हुआ जिससे कि मैं अशांत हुआ मेरी क्या हानि हुई और जिसे मैं हानि समझ रहा हूं वो वास्तव में हानि है या नहीं है आपको केवल घटना रखनी है संक्षेप से बिल्कुल संक्षेप से आवश्यक होगी तो मैं पूछ लूंगा और परेशानी का कारण जो आपकी समझ में आया कल की अंतर यात्रा में उसको करना है कि इससे मुझे ये हानि या प्रतिकूलता लगी इसलिए मैं अशांत हुआ और उस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे तो आप में से इनको दीजिए और किधर किन ने हाथ खड़ा किया था इनको दीजिए बोलिए माइक को पास में रखते हैं हम आ रहे थे रास्ते में तो हम अपने मित्रों के साथ में टिकट कटाने के लिए लाइन में लगे हुए थे तो, तो मित्र थोड़ा सा मित्र मतलब थोड़ा सा तो दूसरे साइड में जानकारी लेने के लिए हाँ। और भीड़ काफी थी तो आपको ये नहीं बोला कि मुझे पैसेंजर का टिकट चाहिए या एक्सप्रेस एक्चुअली गाड़ी एक्सप्रेस में जाना था लेकिन मैंने उसको टिकट कराने वाले को तो ये नहीं बोला कि मेरे को एक्सप्रेस चाहिए पैसेंजर मेरे मैंने तो बोल दिया कि मुझे अजमेर के लिए आगरा के लिए टिकट उन्होंने क्या किया पैसेंजर का टिकट काट के देना शुरू कर दिया तीन चार टिकट काटने के बाद बोला कि आपको एक्सप्रेस चाहिए पैसेंजर मैं बोला मेरे पैसे चाहिए ये काफी थी फिर जो है बोला कि वह तो मैंने काट दिया भीड़ को देखते हुए बोला कि गलती का जब काट दिया काट दिया जब वहां से निकले तो मेरे मित्र पूछे कि कौन सा टिकट लिए बोला पैसेंजर का दे दिया बोला कि आप गलत काम किए बच्चे वाली बात किए हैं मतलब वहां पर मेरा ये उद्देश्य नहीं था मेरे को पैसे बचाना इसलिए पैसे नहीं करके उनका मेरे ऊपर आक्षेप लगा कि आप पैसा बचाने के लिए पैसे करके कर दिया जिसके कारण से आप परेशान हो गए काफी दोनों में मतलब काफी बहस हो गई यहाँ तक कि मतलब काफी व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए गए जिसके कारण से मैं करीब दो दिन तक यहाँ मानी का जो है अशांत रहे हाँ। इस अशांति का कारण क्या समझ में आया अशांति का कारण हुआ मेरा दिल में ये बात नहीं था कि मैं पैसेंजर का टिकट पैसा बचाने के लिए लेकिन मेरे ऊपर तो आश्चर्य बनाया गया कि आपने पैसा बचाने के लिए पैसेंजर का टिकट पड़ गया उस इसी के कारण मेरे को जो जो की बात गलत इसलिए देखिये अशांति का कारण घटना और उन्होंने जो आप पे आक्षेप लगाए वो तो मेरे ख्याल से वो भी यहीं होंगे शिविर में तो इस बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा या आपस में इस बात को लेकर के कुछ और नहीं बढ़ाइएगा द्वेष कि इन्होंने इस घटना को सबके सामने रखा जो भी सज्जन है उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं इसको एक विश्लेषण के रूप में एक साधना के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे मैंने इनसे पूछा कि आपकी अशांति का कारण क्या था घटना को भी बता सकते हैं घटना इन्होंने बताई दी थी बोले मेरा ऐसा भाव नहीं था फिर भी उन्होंने मेरे पर आक्षेप लगाया ये भी घटना का एक भाग है हमारी कल की अंतर यात्रा का क्या विषय था कि जिस कारण से मैं अशांत हुआ वो कारण ये घटना कारण नहीं घटना निमित्त है लेकिन उस घटना से मेरी क्या हानि हुई क्या प्रतिकूलता हुई या ऐसा कौन सा दुख मेरे को आया जिससे मैं अशांत हो गया वो क्या चीज थी अब इसमें विश्लेषण में इनको जो पता लगा पूछने पे जो इन्होंने कहा इन्होंने उसी घटना को बताया आपने ऐसा इस भावना से नहीं किया ऐसा हो गया और उन्होंने आप पे आक्षेप लगा दिया तो इसमें आपकी अशांति क्यों हुई आपकी क्या हानि हुई जिससे कि आप अशांत हुए ये विचारने के बाद आप कुछ अब बता सकते हैं तो बताइए आपकी क्या हानि हुई हानि तो वैसे हमारे जो मनुष्य का जो मानसिक जो प्रवृत्ति होती है कोई भी बात मतलब उसको अगर सुनकर करके जो तकलीफ हो रहा है वो एक उसके कारण से हुआ बैठिए क्या तकलीफ हुई तकलीफ का कारण क्या है बैठिए जब हम ये देखेंगे कि अशांति का कारण ये तकलीफ ये दुख हुआ क्या वो दुख वास्तव में दुख जैसा था या नहीं था दुख हमें क्या होता है प्रतिकूलता होती है क्यों प्रतिकूलता है क्या हानि हो गई हमारी वास्तव में ये बड़ी कष्टप्रद बात है और जैसा कि इन्होंने कहा बातचीत के बाद में कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी हो गए ये एक निमित्त बन गया पीछे से मन में दोनों के कुछ न कुछ भावनाएं होंगी दोष देखते होंगे कह नहीं पाए लेकिन ये अवसर ऐसा आया कि वो व्यक्तिगत बातें भी व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में बदल गई और बात बड़ी बन गई और दो दिन यहां पर अशांत रहे जैसा ये कह रहे यहां आकर के भी पूरे शांत नहीं हो पाए दो दिन लग गए हमें तकलीफ जो होती है दुख जो होता है वो हानि का ही होता है इन सब चीजों में हम सिद्धांतों को दार्शनिक आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगा के कैसे समाधान करते हैं वो देखना है शारीरिक रूप से आपको कोई हानि हुई नहीं हुई कोई हाथापाई नहीं हुई आत्मा के स्तर पर कोई हानि हुई नहीं आत्मा तो ठीक है अजर अमर है कुछ परिवर्तन नहीं आता है मन के स्तर पर कुछ हानि लग रही है जो हमारा उनसे संबंध है मित्रता का गांव के साथ हैं सहपाठी हैं वो टूटता है और हमें अपमान लगता है जब हमें हमारे पर कोई आरोप लगाता है तो अपमान लगता है चाहे वो आरोप सही हो यानी हम गलत हो तो अथवा हम गलत नहीं है तो भी आपके इस घटना में आपका कहना है कि आपका कोई दोष नहीं था वो केवल एक बात थी जो कि उन्होंने कही वो ठीक कही कि आपने बच्चों जैसी बात कर दी कुछ तो ना समझी रही आप नहीं जानते होंगे या उस समय ध्यान नहीं रखा कि दो तरह की गाड़ियां होती हैं सावधानी रखनी चाहिए कोई यह अपेक्षा रखेगा कि भाई हम बड़े हैं वयस्क हैं तो सावधानी रखें एक अज्ञानता के कारण से शुरुआत हो गई जल्दबाजी थी या आपने कुछ भी सोचा अब इसको हम यू देखें कि मेरे अशांत होने का कोई कारण है या नहीं वास्तव में आपकी दृष्टि से आपने कोई गलती नहीं की आपका वो भाव नहीं था कि पैसे बचा लें उन्होंने ऐसा समझ लिया उन्होंने ऐसा समझा तो ये उनकी अपनी धारणा है मान्यता है उस धारणा से हमारे को क्या हानि होने वाली है उन्होंने कुछ बोल दिया और आगे हमारे संबंध बिगड़ेंगे या तो सुधर भी सकते हैं नहीं तो बिगड़ भी सकते हैं तो यदि दूसरे ने अपनी गलती से हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि अनुचित था अन्यायपूर्वक था और उससे हमें कुछ कष्ट हुआ तो ऐसे में उनके द्वारा एक कर्म किया गया उससे हम पीड़ित हुए तो उसकी पूर्ति उसका न्याय परमात्मा के पास होना है जो भी हानि अन्याय पूर्वक दूसरे के द्वारा हमारी होती है उसकी पूर्ति उसकी क्षतिपूर्ति उसका न्याय परमात्मा करता ही है वो हो जाएगा और जब परमात्मा का न्याय है तो हमारी कोई हानि नहीं हमें बाहर की हानि लगेगी संबंध बिगड़ेंगे व्यवहार बिगड़ेंगे तो जो लेन देन है वो बिगड़ेगा लोग क्या कहेंगे कहेंगे योग साधना शिविर में गए थे आकर के आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं ऐसा क्या झगड़ा हो गया अपने को बड़ा आध्यात्मिक समझते थे सज्जन समझते थे लोगों को कहा करते थे और क्या कर, कर लोकेशना भी जुड़ जाती है लोग क्या कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा अब सामान्य पैसेंजर का ले लिया समय अधिक लगेगा एक्सप्रेस में बैठेंगे तो दिक्कत होगी पकड़े जाएंगे तो फिर होगी दिक्कत उनकी चिंता भी स्वाभाविक थी ठीक थी अब इन स्थितियों के अंतर जो हो गया वो हो गया एक श्रृंखला चलती है हम उस श्रृंखला को कहा अपनी तरफ से रोकने का प्रयास करें वो ध्यान देने की बात है श्रृंखला चलती है एक छोटी घटना हुई इसने ये किया फिर उसने ये किया फिर उसने ये किया एक श्रृंखला चलती जाती है और ये श्रृंखला कितनी बढ़ जाए कितनी ऊंचाई तक चली जाए कितनी विपरीत स्थिति में चली जाए उसकी कोई सीमा नहीं होती एक के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति उस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करता है जहां समझ में आया वहां कुछ तोड़ने का प्रयास करेगा पहला प्रयास ये कि अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करेगा दोनों तरफ से हो रहा है बढ़ बढ़ चढ़ के तो पहला प्रयास ये है कि हम अपनी तरफ से जो कर रहे थे उसको बस रोक दें वो कर रहे हैं कर रहे हैं हमने गलत को रोका ये भी श्रृंखला तोड़ने का एक प्रयास है दूसरा प्रयास है कि हम उनके लिए कुछ ठीक करें कुछ उनके लिए अच्छा करें ये भी उस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास है ये तो कर्म की बात हुई जो भी हुआ अभी ऐसे हम वहां रोक सकते हैं कुछ ना कुछ लेकिन अगर कुछ हो गया है उन्होंने अपमानित किया बोला तब आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे कि भाई मैं आत्मा हूं सीधे सीधे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब जो मैं दुखी हो रहा हूं वो इसलिए कि इन्होंने मेरे को अपमानित किया आरोप लगाए तो दूसरे के द्वारा गलत आरोप लगाने से हम वैसे बंद तो जाते नहीं है ये बात हम सब बोलते रहते हैं वैसे समझते हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए आत्मा की दृष्टि से तो हमारे को हम वैसे तो हो नहीं गए और जब हम परमात्मा को अपना स्वामी निर्णायक मान लेते हैं अंतिम फैसला तो वही होना है और परमात्मा की दृष्टि में मैं ठीक हूं तो ठीक हूं और परमात्मा की दृष्टि में गलत हूं तो दुनिया भले ही मेरे को सही कहे मैं सही नहीं हो सकता आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी सारी बात को परमात्मा से जब जोड़ेगा तो ये चीजें कम हो जाएंगी ठीक है ये कह रहे हैं कहने दो इनको अपनी तरफ से हम ना बढ़ाएं और हम उस अशांति को रोक सकते हैं परमात्मा पे छोड़ा उन्होंने किया किया हमें नहीं करना है बस हमें अपनी तरफ से ठीक रखना है और जो मान अपमान हुआ उससे वास्तव में हमारी कोई हानि होती नहीं है हम ऐसा समझते हैं कि हमारी हानि हो गई क्योंकि हम सम्मान से जीते मान में हम बड़ा सुख अनुभव करते रहे और इसलिए जब अपमान होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है उसमें कारण हम स्वयं हैं वो हमारी अपनी अंदर की अविद्या है यदि हम वहां विद्यापूर्वक सोच पाते जितना सोच पाते कि कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ा और इसने मेरे को बोल दिया तो बोल दिया लौकिक दृष्टि से कहें कोई अखबारों में तो छप नहीं गया दो चार को पता लगेगा लग जाएगा क्या फर्क पड़ता है और परमात्मा तो जानता ही है ठीक है और दूसरे तो किनको दिया था आप आप थे बोलिए उस समय मैंने माइक देने के लिए कहा था कौन थे जी जिनको पहले कहा था इधर से माताओं बहनों में से कोई हाथ खड़ा करना चाहे तो बोलिए सुख की स्थिति जैसे हम यहां से जाएंगे सात आठ दिन के बाद जाएंगे मन करेगा वहां जाके आराम करे अच्छा से बंधन से मुक्ति हो लेकिन कुछ देर पश्चात ऐसा मेरा पुराने शिविर में अनुभव रहा है जाने के पश्चात से आराम करने का बहुत मन किया थोड़ी आराम करने के बाद फिर मन मुश्किल घूमता आराम किया उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जैसे अब अब तो पुरानी पिछली बात मत किया मेरी बात मेरी बात सुनिए वहां जाके आपने आराम किया उसके बाद जो आपने अंतिम वाक्य बोला वो बोल दीजिए आराम किया कि उससे भी मन उग गया अच्छा ठीक है वो भी शरीर को दायित्व था लेकिन उससे भी मन उठ गया और कष्ट होने लग अच्छा शारीरिक कष्ट होने लग गया शारीरिक मतलब इच्छा नहीं रहती और आराम किया जाए तो इसमें हम्म, अशांति का कारण क्या है अशांति सात दिन आठ दिन जब भी इस के दौरान रहे तो मन में एक उत्कृष्टता रही कि वहां जाए जाएंगे तो आराम करेंगे जाएंगे तो आराम करेंगे लेकिन वहां पहुंचे और आराम कुछ बंद भी नहीं किया उसके बाद फिर एक अशांति से लगी आराम नहीं करना चाहिए भोले व्यक्ति जैसे आराम नहीं करना चाहिए अच्छा ही एक मिनट मैं जैसा समझ पा रहा हूं मैं एक बार बोलता हूं <clears throat> शिविर में थे तो कठिन तपश्चर्या दिनचर्या थी तो घर जाके आराम करेंगे ये इच्छा थी जब आराम करने लगे तो यहां के विचार आए कि मैं क्यों आराम कर रहा हूं ये तो गलत कर रहा हूं ऐसे आराम नहीं करना चाहिए इससे अशांति हुई इससे अशांति हुई हाँ। तो अच्छा हाँ। क्या फिर वही कि अच्छा कर रहा भोजन सारा ही भोजन अच्छा होना चाहिए था ज्यादा नहीं करे फिर अशांति सी हो मन में ये आया यहां से गए कि अच्छा भोजन करेंगे अच्छा भोजन आया तो लगा फिर यहाँ के विचार बाधित हो जाते हैं बाधित करते हैं ना ये देखो मैं तो स्वादिष्ट भोजन करने लग गया ये मेरे लक्ष्य के लिए बाधा के मेरे को तो सादा ही भोजन करना चाहिए यानी उस स्वादिष्ट भोजन की जिसकी इच्छा थी उसमें अब आपको फिर दोष दिखाई देने लगा कि ये मैंने क्या कर लिया मेरे को तो सादा ही करना चाहिए आराम करने की इच्छा थी आराम करने लगे तो अरे ये क्या करने लगा मेरे को तो मेहनत करनी चाहिए ऐसा कुछ भाव बैठिए ये अशांत होने का इसमें अशांत होने की बात नहीं है अशांत ये क्यों हुए कि देखो शिविर में इतना सीखा समझा विचारा था तो भी यहां के आके फिर मैं वैसे ही जीने लग गया वैसा ही आराम वैसा ही अच्छा भोजन वैसा ही विषयों के प्रति आकर्षण मैं वैसा का वैसा हो गया ये ठीक नहीं है ये इनकी अशांति का कारण ठीक है इसको आप और अच्छे ढंग से ले लें ऐसा अधिकांश के साथ में होता है ज्यादा परेशानी की बात नहीं प्रारंभ में होता है कि ये जो आपको बाद में अनुभूति हुई अब जो मैं आराम कर रहा हूं ये ठीक नहीं है ये जो मैं विशेष स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूं ये ठीक नहीं है ये विचार सही है या गलत है सही है ना ये तो अच्छी बात है ना अच्छी बात है ना इससे आपने आराम छोड़ा फिर से मेहनत में लगा इससे आपने विशेष स्वादिष्ट भोजन छोड़ा फिर सादे भोजन पे आ गए फिर संयम पे आ गए ये अच्छी बात है ये अशांति की बात नहीं है ये शांति की बात है अच्छा है ये इसको मान के चलिए सबके साथ में होता है एकदम से यहां पर आप जिस वातावरण में रहते हैं इतने लोग एक साथ इस तरह से चलते हैं इतने लोग आपको बताते हैं तो एक ज्ञान का स्तर विवेक का स्तर भावना का स्तर अलग आ जाता है अब वापस अब आप जाएंगे तो वहां तो आपको अपने बल पे ही रहना है ये आधार बनेगा और ऐसे में कुछ नीचापन तो आएगा ही लेकिन उस नीचेपन के जाने में भी आपको ये बोध हो गया कि नहीं ये ठीक नहीं मेरे को वापस ठीक होना तो अब ये अच्छी बात है इसको अशांति की बजाय शांति के रूप में देखे कि तो अच्छी बात है आपको यह अनुभव हुआ आप कल्पना कीजिए आप शिविर में नहीं आए होते एक भी शिविर जो पिछले किए वो भी नहीं किए होते तो आप उसी तरह से आराम में रहते और उसी तरह से स्वादिष्ट भोजन करते रहते उसी तरह विषयों में आसक्त रहते लेकिन अब आपके मन में ये अगर आ रहा है तो शिविर का प्रभाव है अच्छी बात है ये आशा कर लेना कि मैंने शिविर कर लिया बहुत अच्छी स्थिति बन गई और अब ये स्थिति मेरी सदा बनी रहेगी ये अपने आप में एक मिथ्या ज्ञान है हमने ऐसी ऊंची आशा कर ली यहां जैसा माहौल है जैसी भावना बनी अब तो मेरे सारे क्लेश हट गए और संस्कार दब गए अब मैं तो ठीक हो गया एकदम धुल के निकल गया ये जो हम सोच लेते हैं ये एक मिथ्या धारणा हो गई अति आशावादिता हो गई क्योंकि ऊपर से वृत्ति के स्तर पर ये थोड़ा ठीक हुआ अच्छा हुआ संस्कार तो भी पूरे ठीक नहीं हुए संस्कारों का तो थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है वहां जब आलंबन वैसे के वैसे आएंगे आपका परिवेश जो भी है तो संस्कार फिर से उभरेंगे ही तो ये आशा जो नहीं करनी चाहिए थी जो कर ली गई जो संभव नहीं थी वो कर ली गई और वो जब टूटी तो उसके कारण आपको अशांति हो गई इसको अशांति के रूप में नहीं लीजिए वहां जाके भी आप पहले की अपेक्षा कुछ अच्छे कर रहे हैं ये शांति की बात है ये एक दो शिविर में या एक दो महीने में एक दो साल में होने वाली बातें नहीं है कोई कोई कर सकता है लंबा समय लगता है और उसमें बिना निराश हुए चलना होता है पहले की अपेक्षा मैं अच्छा कर रहा हूं इसका संतोष और शांति रखते हुए चले इसमें अशांति की बात नहीं है माताओं बहनों में से कोई नहीं है पुरुषों में से कोई दीजिए उनको पास में रखिए माइक को मेरी परेशानी का कारण ये है कि मैं ऋषि प्रवन को विश्वास में का कारण नहीं कर पा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे करना क्या चाहिए तो बस एक एक एक ही दूसरा बात यह है कि हिंदू ही तमाम ईसाइयों के निशानों पर क्यों तो देवाओं और टीवी वगैरह पढ़ते दूसरा दूसरा भी रहने दीजिए बैठ जाइए इनके मन में भावनाएं है कृणवंतो विश्वमार्यम मैं इनका जो भाव है वो ये कि मैं सारे संसार को आर्य श्रेष्ठ बनाऊं और वो मैं कर नहीं पा रहा हूं इस बात की अशांति है और इसके साथ साथ दूसरी कि दूसरे लोग इतने बढ़ रहे हैं ये हो रहा है हमारी हानि हो रही है देखिए पहली बात तो कृणवंतो विश्वमार्यम जो मंत्र का अंश है उसका मतलब है स्वयं को पूरा आर्य बनाते हुए विश्व का मतलब संसार नहीं है वहां पर यद्यपि प्रचलन में यही अर्थ आ गया है अपने आप को पूरा आर्य बनाते हुए अपने आप को पूरा श्रेष्ठ बनाते हुए इस पंक्ति का अर्थ ही है तो उसका पहले तो अर्थ ठीक कर लीजिए और अपने आप को पूरा श्रेष्ठ बनाइए दूसरों की अभी छोड़ दीजिए ज्यादा चिंता लेकिन मन में भावना होती है और वो किस रूप में जाती है प्रतिस्पर्धा के रूप में अन्यों की संख्या बढ़ रही है हमारी संख्या घट रही है कोई भी पूछता है आपके कितने से लोग हैं उनके तो इतने हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं अब यहां हमारी अशांति का कारण क्या है दूसरों की वृद्धि बोले नहीं दूसरों की वृद्धि नहीं दूसरों की वृद्धि होगी तो हमारा नाश हो जाएगा वो तो नाश कर देंगे हमारा रहने नहीं देंगे पहले भी उन्होंने ऐसा ऐसा किया है अब और आगे करेंगे इस चिंता स्वाभाविक है वो चिंता की भी जाती है और जितना हम कर सकते हैं उतना हमने किया बस उतना हमारा अधिकार था उतना हम कर सके पूरा प्रयत्न किया अधिक नहीं कर पाए वो छोड़ दीजिए चिंता हम सोच रहे मैं ये कर दूं ये कर दूं ये कर दूं ऐसा हो जाए सामर्थ्य हमारी है नहीं कल्पनाएं हमने ऊंची कर ली है ये अति में जाकर के काल्पनिक और मिथ्या ज्ञान से युक्त निर्णय है सोच है और ये हमारे को दुख देगा ही जैसे धन कमाने में कोई व्यक्ति कोई बच्चा अति आशा कर ले कर सकता नहीं है और दुखी होगा निराशा में जाएगा ऐसा ही आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी होता है मनोविज्ञान बिल्कुल एक जैसा है हमने कल्पना कर ली एक वर्ष में समाधि लगा लूंगा एक वर्ष में आर्यावर्त बना दूंगा दस साल में बना दूंगा सामर्थ्य नहीं को नहीं देखा हमारी जितनी सामर्थ्य है हम कितना कर सकते हैं बस उतने में संतोष रखिए हम खुद इस अज्ञानता के कारण से दुखी हैं और ऐसे बहुत लोग होंगे आप में से भी बहुत होंगे गायें कट रही हैं दुखी है कोई वेद प्रवचन सुनने नहीं आता है दुखी है दुख उनके दुखी होने के बहुत कारण है दुखी दुखी दुखी मन जिस बात को देखो उसमें दुख आप कल्पना कीजिए दूसरे ढंग से देखिए कि संपूर्ण वैदिक राज्य बनाना है आर्य सबको आर्य बनाना है उससे क्या होगा अभी हम भयभीत हैं कि ये बढ़ गए तो हमारा क्या होगा और जब सब हमारे हो जाएंगे आर्य हो जाएंगे तब क्या करना है हमारे को तब क्या करेंगे बोले वैदिक राज्य होगा शांति होगी हम पूरी साधना करेंगे वैदिक धर्म का पालन कर पाएंगे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे अभी कौन रोक रहा है आपको अभी भी स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है एकदम शांत है आप ध्यान उपासना में बैठते हैं तो कोई आपको बाधा करने आता है घर में या यहां पर कोई आके आपका सिर काट लेता है यज्ञ करते हैं तो आपकी हवन वेदी में कोई मांस आके डालता है आप जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं उस पुस्तक में कोई रोक है आप जो यम नियम का पालन करना चाहते हैं उसमें कोई रोक टोक रहा है कुछ भी नहीं है आज भी वो स्थिति है इतनी अच्छी स्थिति है कि हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पूरा प्रयत्न कर सकते हैं जो हम संपूर्ण को आर्य बना करके फिर करने की सोच रहे हैं वो हम आज भी कर सकते हैं तो इस चिंता में हम इसको तो छोड़ देते हैं कि आज जो मैं कर सकता हूं और उस चिंता में जितना हम आगे करना चाहते हैं और लेकिन आज कर सकते थे उसको भी छोड़ देते हैं ये इसमें मिथ्या ज्ञान है ये दुख का कारण बनेगा ही अशांति का कारण बनेगा ही हम जितना कर सकते हैं हमारा दायित्व है इस विषय में सोचना करना वो हम करें बस इतने में संतुष्ट सारा बोझा एक व्यक्ति का नहीं है एक व्यक्ति सब नहीं कर सकता है अपना प्रयत्न जितना हो सकता है किया बस अब इसके आगे अशांति की कोई बात नहीं है नहीं है दूसरे साथ में तो मैं क्या करूंगा कोई बात नहीं और मेरे को जो वैदिक व्यवस्था में आर्य होने का प्रयत्न करना है वो मैं अपना पूरा कर रहा हूं बस इतने में हम संतुष्ट रह सकते हैं ये अशांति का कारण हमारा अपना मिथ्या ज्ञान है वास्तव में नहीं है और इसके लिए बहुत प्रयत्न हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर आप देख सकते हैं शासन भी बदल गया है वो सब बहुत सारी अनुकूलताएं आ गई हैं भले ही पूरी अनुकूलता नहीं है लेकिन उस दिशा में हम क्या उससे ज्यादा कर सकते हैं कुछ चीजें बदल रही हैं हो रही हैं उसको सार्थकता से सफलता से अच्छे सकारात्मक रूप से हम उसको ले सकते हैं और ये कोई दुख का कारण नहीं है अशांति का कारण नहीं है इस तरह की अशांतियां हमारी अपनी ली हुई है और इन अशांतियों को लेकर के हम साधना नहीं कर सकते इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन विषयों को छोड़ दें चिंतित ना हो विचार ना करें विचार करना है प्रयत्न करना है लेकिन परेशान होकर के जो ठीक स्थिति है उसका भी उसको भी गंवा देना उसमें भी साधना ना करना ये हम गलत कर लेते हैं ये हमारा मिथ्या ज्ञान है तो आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं अंतर यात्रा में तो और आपको मैं नहीं कर पा पाया लेकिन आप भी इसी तरह से कुछ सोचिए ये कुछ उदाहरण अलग अलग तरह के हमारे सामने आए कि मैं अशांत हूं तो क्यों हूं ऐसी कौन सी प्रतिकूलता मेरे को आ रही है जिससे मैं अशांत हूं वो वास्तविक है या नहीं है अवास्तविक है तो मैं उसको हटा सकूं और यदि वास्तविक है तो उसको भी इस तरह से समझ सकूं कि वो उसमें अशांत ना हो तो आज का विषय हम इतना रखते हैं आंख को बंद करके तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना कामना रखेंगे कि मैं अंतर्मुखी होकर अपने जीवन की अशांत परिस्थितियों को समझ सकूं और ज्ञानपूर्वक अशांति से बच सकूं श्वास भरिए ओ compassion